उनमें नीची निगाह वाली हूरें होंगी जिन्हें उनसे पहले न किसी इंसान ने छुआ होगा और न किसी जिन ने